जो लोग किसी ज़मीन के बाशिंदों की हलाकत के बाद उसके वारिस बन जाते हैं भला क्या उनको ये सबक नहीं मिला कि अगर हम चाहें तो उनको भी उनके गुनाहों की वजह से किसी मुसीबत में मुब्तला कर दें और जो लोग अपनी जिद की वजह से ये सबक नहीं लेते हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं जिसके नतीजे में वो कोई बात नहीं सुनते